अनाद्यनतम महत परम ध्रुवम निचाय तन मृत्यु प्रमुच्यते ये मंत्र की व्याख्या हुई थी प्रस्तुत विज्ञान स्तुत्यर्थम आह श्रुति श्रुति अभी कहती है विज्ञान की स्तुति के लिए मृत्यु प्रोक्त सनातन उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते नाचिकेतम उपाख्यानम नचिकेत सा प्राप्त है नचिकेत को प्राप्त हुआ उपाख्यान मृत्यु प्रोक्तम मृत्यु ना प्रोक्तम मृत्यु प्रोक्तम मृत्यु के द्वारा कहा गया ये सनातनम सनातन है नित्य क्योंकि वेद में कहा गया वेद अनादि काल से वेद वही वेद ही सृष्टि प्रलय बहुत बार होने पर भी प्रलय काल में जैसे वेद पहले था अज्ञान में लीन होता फिर सृष्टि काल में धाता यथा पूर्वम अकल्पयता यथा सूर्य चंद्रमा सो तो ही वेद उनसे सनातन नित्य कहा वैदिक उनसे उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोक महियते उक्त्वा श्रुत्वा च ब्रह्म कह करके और सुत्वा ब्राह्मण से सुन करके मेधावी बुद्धिमान विवेकी ब्रह्मलोक में पूज्य होता है महियते महापूजायाम उपास्य होता है ब्रह्मा की जैसे नाचिकेतम नाचिकेतसा प्राप्तम नाचिकेतम नचिकेत के द्वारा प्राप्त हुआ यह जो उपदेश मृत्यु ना प्रोक्तम मृत्यु प्रोक्तम इदम आख्यानम एक कथा रूप से उपदेश प्राप्त हुआ उपाख्यान वल्लित्रय लक्षणम तीन वल्ली में तृतीय वल्ली भी समाप्त होना है तीनों वल्ली में कहा गया सनातन का तो चिरंतनम वैदिकत्वात वैदिक होने से चिरंतन चिरकाल से है नित्य है उक्त्वा ब्राह्मणेभ्य श्रुत्वा उक्त्वा ब्राह्मणेभ्य श्रुत्वा च आचार्यभ्य ब्राह्म उक्त्वा ब्राह्मणेभ्य श्रुत्वा आचार्यभ्य ब्राह्मणों को कह करके अथवा आचार्य से सुन करके ये मेधावी है असमाया मेधा सजविनी मेधा वाला मेधावी पुरुष ब्रह्मैव लोक ब्रह्मलोक ब्रह्मलोके महियते ब्रह्मैव लोक ब्रह्मलोक ब्रह्म ही लोक ब्रह्मलोके महियते का अर्थ मह्यते आत्मभूत उपास्य भवति आत्मस्वरूप होकर स्वयं उपास्य हो जाता है मेधावी कहीं ब्राह्मण लोक ब्रह्म लोक कहा जाता है तो ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं यहाँ ब्रह्म स्वरूप हो जाता है श्रवण करने पर फिर आगे उक्त्वा श्रुत्वा उपदेश करता है श्रवण करता है आचार्य से तो से ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा ज्ञान प्राप्त कर लेगा इस अभिप्राय से य इमं परमं गुह्यं शावयेद् संसदी प्रयतः काले वा तदानंत्याय कल्पते तदानंत्याय कल्पत इति जो इमं परमं गुह्यम गुह्य तो गोपनीय परम है प्रकृष्टम निरति से अत्यंत गोपनीय गुह्याना मध्य अत्यंत गुह्यम परम गुह्यम जो गोपनीय सब को नहीं कहा जाता है तो ना शिष्याय अत्यंत अद्याद वेदांते परम गुह्यम पुराकल्पे प्रचोदित ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय अशिष्याय अपना शिष्य पुत्र को नहीं दे अशांत को नहीं दे तो गोपनीय है जो इसको श्रावेत ब्रह्म संसदी ब्राह्मणानाम संसदी ब्राह्मण सभा में ब्राह्मण को सुनाए प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानंत्याय कल्पते शुद्ध होकर के श्राद्ध काल में ब्राह्मण भोजन के समय उनको सुनाए तद अनंत्याय कल्पते वही अनंत्य अनंत भाव अनंत्यम वही श्राद्ध अनंत फलक हो जाता है तद अनंत्याय कल्पते इसलिए कहीं कहीं श्राद्ध के समय में जितनी बलि सुनाते हैं ब्राह्मण को सुनाते हैं महात्मा को यह कश्चित इमं ग्रंथम इमं परम गुह्यम परमं प्रकृष्टम गुह्यम गोप्यम श्रावेत सुनाए सुनाने का है तो एक तो शब्द पढ़कर सुना देना और अर्थ बताना तो ग्रंथ तो अर्थतश्च ब्राह्मणा नाम संसदि ब्रह्म संसदि ग्रंथ और अर्थ ग्रंथ पढ़कर सुना दिया अर्थ भी बताया तो श्रवण करना जैसे सुन रहे श्रवण करे श्रवण करे क्या थे खाली मंत्र पाठ सुन लिया ऐसा नहीं जैसे ब्राह्मण लोग रुद्राभिषेक करते मंत्र पाठते तो खाली सुन लिया ऐसा नहीं यहाँ श्रवण का अर्थ तात्पर्य अवधारणम आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य श्रोतव्य जो कहा गया श्रवण करना श्रवण करके तात्पर्य अवधान निश्चय सारे वेदांत का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में ऐसा निश्चय होने तक श्रवण करना होता है और उस निश्चय सामान्य रूप से निश्चय बहुत कहे किंतु तात्पर्य को निश्चय करना पड़ता है तात्पर्य ग्राहक लिंग के द्वारा तात्पर्य को ज्ञान कराने वाले लिंग ज्ञापक है उसके बिना खाली श्रद्धा से मानते अच्छा है श्रद्धा है तो मानना ठीक है किंतु तात्पर्य का निर्णय होने के लिए तात्पर्य ग्राहक लिंग से निर्णय करना होता है श्रवण तब श्रवण करके अवधान निश्चय होता है तात्पर्य ग्राहक लिंग छे है उपक्रम उपसंहारा अभ्यासु अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय तो ये तात्पर्य निर्णय करने के लिए लिंग ज्ञापक है उसे निश्चय करना है श्रवण यहाँ भी श्रावेत ब्रह्म संसद आया सुनाए अर्थ से भी ग्रंथ से अर्थ से और केवल अर्थ तो बताए ग्रंथ नहीं ऐसा नहीं ग्रंथ से भी वेदांत का श्रवण वेदांत वाक्य का श्रवण और अर्थ समझना ब्राह्मणा नाम संसति ब्रह्म संसति प्रयतः प्रयत शुचि शुद्ध होकर शुचि भूत्वा श्राद्ध काले वा श्रावेत श्राद्ध काल में सुना सुनाए ब्राह्मणों को गुंजाना नाम केवल ब्राह्मण को सुनाए ये अलग है श्राद्ध काल में सुनाए तो भी श्राद्ध अधिक फल हो जाता है भुंजाना नाम तत्श्राद्धम अस्य आनंत्याय अनंत फलाय कल्पते अनंत फल के समर्थ हो जाता है संपद्यते दुर्वचन तदानंत्याय कल्पते तदानंत्याय कल्पत इति दो बार कहा गया अध्याय परिसमाप्त्यर्थम प्रथम अध्याय में तीन वल्ली अध्याय समाप्ति के लिए दो बार कहा गया प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली काठक उपनिषद प्रथम अध्याय समाप्त हुआ आगे द्वितीय अध्याय है अथ द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली टीका में दिया है अनादिर अविद्या प्रतिबंध प्रागुक्तो अधुना आगंतुक प्रतिबंध दर्शनाय उत्तरवल्य आरंभ इति संबंध महा अविद्या प्रतिबंध अविद्या के कारण ही स्वयं प्रकाश ब्रह्म आनंद रूप है तो भान नहीं होता है और स्वरूप के भान नहीं होने से फिर विपरीत भावना देहादि में अहम बुद्धि मिथ्या प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि अज्ञान से ही आवरण से अज्ञान का कार्य आवरण आवरण होने से विक्षेप होता है रज्जु के अज्ञान से ही सर्प दिखता है रज्जु के ज्ञान हो जाता तो सर्प नहीं दिखेगा निद्रा के दोष से अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता है तो मिथ्या प्रपंचवान होता है इसी प्रकार ये अविद्या है प्रतिबंध अविद्या का आवरण है उसके कारण स्वरूप भान नहीं होता है वो अविद्या अनादि है अनादि काल से अनादि है उसकी उत्पत्ति नहीं होती अनादि अविद्या ये रूप प्रतिबंध पहले कहा अभी आगे क्या करेंगे कहेंगे अधुना आगंतुक प्रतिबंध दर्शनाय आगंतुक कुछ आने वाला जन्य कार्य रूप प्रतिबंधक वो तो अविदा अनादि है आगंतुक प्रतिबंध दिखाने के लिए आगे वल्य आरंभ करते हैं यदि संबंध मह भगवान भाष्यकार संबंध कहते पहले एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धियेति उक्तम् ऐसा आत्मा सर्वेश भूतेषु गूढ़ ऐसा आत्मा एक आत्मा सारे भूत में है अनेक आत्मा नहीं है आत्मा सर्वेश भूतेषु गूढ़ गूढ़ छिपा हुआ है प्रकट नहीं होता दिखता नहीं न प्रकाशते प्रकाश भान नहीं होता है तो फिर उसके ज्ञान से मुख्य कैसे होगा प्रकाश न प्रकाशते इसलिए दिया दृश्यते या बुद्धिया तीक्ष्ण बुद्धि से सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्म सदस्य विवेक करने वाले तीक्ष्ण बुद्धि से वो उसका ज्ञान होता है कह पुनः प्रतिबंधो अज्ञाय बुद्धेर येन तद अभावात आत्मा न दृश्यते इति तद दर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्ली आरभ्यते प्रतिबंध क्या है अग्रया बुद्धि बुद्धि में तीक्ष्णता होने में नहीं होता क्यों क्या प्रतिबंध जिस प्रतिबंध से तदभाव बुद्धि में अग्र तीक्ष्णता नहीं होती जिसके कारण सब का आत्मा का प्रकाश नहीं होता आत्मा न दृश्यते यदि बुद्धि अग्रा बुद्धि से दिखती है तो बुद्धि तीक्ष्ण होकर सबको दिख जाए सबको ज्ञान हो जाए सबको क्यों नहीं होता है क्या प्रतिबंध है अग्र बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि होने में क्या प्रतिबंधक है एकाग्रता एकाग्र होने पर तीक्ष्ण होने पर ज्ञान होगा क्यों नहीं होता है जिसके कारण जिस के अभाव से आत्मा का ज्ञान नहीं होता इति उसको दिखाने के तद अदर्शन कारण अदर्शन का कारण प्रतिबंध अज्ञान का कारण क्यों नहीं होता है प्रकाश न प्रकाशते उसको दिखाने के लिए आगे बोलिए आरंभ किया जाने क्या आरंभ किया जाता है तो क्यों दिखाने से क्या होगा विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे तद अपनया अपनया अपनयनाय यत्नारब्धम शक्यते नान्यता इति जब श्रेय प्रतिबंध का कारण समझ ले विज्ञाते तद अपनयनाय उसकी निवृत्ति के लिए यत्न आरंभ किया जा सकता है न अन्यथा कारण नहीं जाने तो यत्न नहीं होगा इसलिए दोष दृष्टि तो अन्य में दोष दृष्टि होती है अपने में दोष दृष्टि करे क्या दोष है जिसके कारण साधन में प्रगति नहीं होती है एकाग्रता वैराग्य नहीं होता क्यों कारण क्या है तमोगुण रज गुण के कारण तमोगुण अधिकांश से तंद्रा आलस्य प्रमाद निद्रा रजगुण रज रजगुण इधर-उधर प्रवृत्ति होती है स्थिरता नहीं होती ये सब समझ करके और अपने में क्या दोष है कैसे व्यवहार में राग द्वेष में सरलता है या नहीं ये सब समझ अपने दोष दोष समझने पर फिर उसको उसकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना होता है समझ करके दूसरे में दोषारोप करने से अपने अपना कल्याण नहीं होता है दोष गुण या विचार तब आवश्यक नहीं है किंतु यदि कहीं विचार होता है तो ये दोष अपने में नहीं हो ये सीखना है अन्यथा दोष दिखता है तो ये दोष अपने में नहीं हो उसकी निंदा करने के लिए नहीं ये दोष अपने में नहीं अपने में कोई दोष है तो हटाए और कभी-कभी अपना दोष अपने को दिखता नहीं है अपने तो मानता है मैं जो कहता हूं ठीक है गलत नहीं और क्रोध हो जाने पर कोई कुछ कहे नहीं सुनना है यही करना है ये हमारा है और अत्यधिक आसक्ति किसके प्रति आसक्ति है तो उसको भी समर्थन करना और गलत भी हो तो भी उसको समर्थन करना ये सब बहुत प्रकार ये सब समझिए सरल है अपना लक्ष्य क्या है तो किसी मत को समर्थन करने के लिए किसी व्यक्ति को समर्थन करने के लिए आप साधु नहीं बने अपना कल्याण करने के लिए अपना कल्याण ही करना है कोई व्यक्ति गलत है तो गलत होने पर भी वो हम उसको समर्थन करते उसका समर्थन नहीं करते रहे ऐसा नहीं जो गलती करने वाले को समर्थन करना भी गलती है पापी को प्रोत्साहन देना भी पाप है बल्कि यदि आपका प्रिय है कोई गलती करता है तो उसको सुधार करने के प्रयास करें कोई गलती करता है तो उसको बताए ऐसा नहीं करो तभी उसका आपका प्रेम स्नेह सम्मान संबंध अच्छा है और गलती करने वाले को गलती में लगाए तो ये शत्रु मित्रता नहीं है सम्मान किसी को करते हो गलत करता है तो प्रेम से सम्मान से बोले ऐसा नहीं कीजिए कोई भी संबंध का ही लाभ है परस्पर दुर्गुण से हटा करे गलत मार्ग हटा करे सन्मार्ग में चलाना ये परस्पर सहाय वास्तव सहाय वह है गलत मार्ग में कोई चलाता है तो उस उस प्रेम नहीं है इसलिए दोष दृष्टि करने से दोष की निवृत्ति होती है यही विचार साधु को करना पड़ता है अपने में क्या दोष है और किसकी निवृत्ति करनी है क्या करना है विचार करने पर ग्रहण होता है दोष है जरूर शांत होकर विचार करने पर अपने दोष दिखता है दोष की निवृत्ति करें कोई दोष है उसको जान करके बढ़ाते रहे दूसरे को सिखाओ जो हम भी हम भी ऐसा कर दे तुम भी ऐसा करो वो ठीक नहीं कोई कोई ऐसे करते समय तो गलत करेंगे दूसरे को आया उसको सिखाएंगे देखो हम भी नहीं जाते आरती में तुम भी नहीं क्या जाना रोज रोज क्या जाना और कोई कोई कहते क्या कभी-कभी चले जाओ ये नहीं ऐसे कुछ लोगों का ऐसा नहीं स्वयं नहीं करते तो स्वयं करे कोई नहीं करता तो उसको बताए इसे केवल आरती के नाम से नहीं कोई गलती के लिए ऐसे सम करे धीरे-धीरे दोष जानने पर विज्ञाते श्रेय प्रतिबंध कारण है कोई दोष दुर्गुण है वो श्रेय का प्रतिबंध का कारण है उसको जानने पर श्रेय प्रतिबंध कारण है तद अपनयनाय यत्न आरब्ध सके तो उसकी निवृत्ति के लिए यत्न किया जा सकता है इसे स्वयं अपने ही दोष देखे अन्वेषण करे और उसकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए यत्न आरंभ किया जा सकता है नान्य था और अपने दोष नहीं देखे दूसरा दोष देखते रहे दूसरा दोष दोष देख के दूसरा दोष की निवृत्ति करना चाहते हैं अपने दोष तो निवृत्त नहीं कर पाए और दूसरे दोष देकर उसको निंदा करके उसके ऊपर दोषारोप करें और स्वयं भी दोष करें दूसरे दोष देकर दूसरे निंदा करना है स्वयं दोष है अपने दोष अपने दोष निवृत्ति करना चाहिए न अन्यथा यत्न अपना दोष नहीं जाने नहीं समझे तो उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है परांचि खाने व्यत्रिणत स्वयं भूष तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छदावृत चक्षु रमृतत्वमिच्छन् स्वयंभू खाने परांचि व्यत्रिणत तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन स्वयं भू है परमात्मा ने स्वयं भवती भू खानी ख शब्द से इंद्र लेना इंद्रियाणी आकाश को भी कहते उसे उपरक्षित श्रवण इंद्र केवल सब इंद्र नहीं खानी कहानी से अन्य इंद्र सारे इंद्र को ब्रह्मा जी सृष्टि काल में क्या किया परांची परांचंती परांची बाहर दौड़ने वाले परागंचति अंचुगत्यर्थ बाहर जाने वाले इंद्रियों को बना दिया उनका मुख को बाहर की बना दिया जैसे जल का स्वभाव नीचे बह जाना इंद्र का स्वभाव बाहर दौड़ना परांची खाने यही ब्रह्मा जी ने बनाया ये उनके प्रति हिंसा है व्यत्रिणत वि अत्रिणत त्रिहु हिंसायाम इंद्र के प्रति ही हिंसा है उनको अंतर्मुख अंदर के ओर मुख नहीं कर बाहर की ओर कर दिया बाहर दौड़ती है तस्मात् परांग पश्यति इसलिए सब लोग बाहर देखते हैं परांग पश्यति न अंतरात्मन अंतरात्मानम अंतरात्मन यह द्वितीयांत कर्ण से अंतरात्मानम अंतरात्मा को नहीं देखता है अंदर नहीं देखता है बाहर देखता है सब ये स्वभावत ही बाहर देखते हैं ऐसे सृष्टि अनादिकाल से ब्रह्मा जी ने इसे बनाया इंद्र की प्रवृत्ति बाहर और होती है दिखता है बाहर अंदर नहीं दिखता है सुनता बाहर शब्द अंदर नहीं सुनता अंदर भी शब्द सुनाई पड़ता है बाहर बंद कर तो अंदर गंध ग्रहण नहीं होता बाहर गंध ग्रहण होता है सब अंदर दौड़ते हैं तो फिर कच्ची धीर प्रत्येगात्मान ऐचत कोई अनेक में कोई धीर होता है प्रत्येगात्मान ऐचत प्रत्यात्मा को देखता है ऐचत है लंग लकार में तो संद में काल नियम नहीं देखता है ऐसे प्रयोग सांदर्श प्रयोग होता है ऐशत देख कोई देखता है प्रत्यय आत्मा को कोई धीर विवेकी कश्चित कोई अनेक में कोई होता है कैसे देखता है इंद्रिय को तो बाहर बना दिया बा, अंतरात्मा को देखते नहीं यो देखने के साधन है आवृत चक्षु आवृतानि चक्षुंसि यस्य येन चक्षु सदृश से ऊपर चक्षु उपलक्षण है इंद्रियों का आवरण ढाक दिया इंद्र के जो बाहर के प्रवृत्ति हो तो उसको बोर रोक दिया वही आवरण करना बहिर्मुख प्रवृत्ति को रोक लेने से ही अपन प्रत्यात्म का साक्षात्कार होता है आत्म साक्षात्कार करने के लिए इंद्र की प्रवृत्ति को रोकना यही इंद्र को जीतना जितने आवश्यक है देहधारण के लिए अनिषिद्ध है इतने ग्रहण करके इंद्र के प्रवृत्ति को रोकना कोई कोई होते हैं इंद्रियों को रोक करके उसका साक्षात्कार करते हैं किंतु इंद्र बाहर दौड़ने पर विषय ग्रहण करने पर आशा होता है उसको जबरदस्ती रोक करके क्या लाभ है क्यों रोकता है इसलिए कहा गया अमृतत्वम इच्छन जो अमृतत्व चाहता है मोक्ष चाहता है वही रोकेगा रुकता है अमृतत्व इच्छन मालूम है जन्म मरण चक्र में अनादिकाल से भटक रहा है मरने वाला है फिर जन्म मरण जन्म मरण चल रहा है अमरणत्व को प्राप्त करना जो चाहता है ये अनित्य संसार से दुखमय संसार से निवृत्त होना चाहता है तभी इंद्रियों को यह प्रवृत्ति को रोकता है इंद्रिय बाहर दौड़-दौड़ कर विषय भोग करके भी तृप्त कोई नहीं हो सकता है तृप्ति होने के लिए वासना को निवृत्ति करके प्रत्येगात्मा का साक्षात्कार करना पड़ता है उसके लिए इंद्रिय की प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा टीका में व्यत्रिन तो स्वयंभू भाष्य में पहले परांची पराग अंचन्ति इति परांची अंचति इति का अर्थ गच्छन्ति बाहर दौड़ते इति परांची खानी तद उपलक्षितानि श्रोत्रादि इंद्रियाणि ख शब्द से आकाश शब्द होता है इंद्रिय भी है ख शब्द का अर्थ इंद्रिय पूरे क्षेत्रे शून्य विंदो विहायसी संवेदने देवलोके सर्मणि अपि नपुंसकम मेदिनी को बहुत अर्थ दिया है प्रसिद्ध आकाश में तदुपरिचितानि इंद्रियानि लेना श्रोत्रादी इंद्रियानि सब इंद्रिय खानी इति उच्यन्ते ख शब्द से कहा गया सब इंद्रियों को तानि परांचेव बाहर दौड़ने वाले बना दिया शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवृत्त तो इंद्र बाहर दौड़ती है इनका स्वभाव है बाहर शब्द आदि विषय प्रकाशन करते यस्माद एवं स्वाभाविकानि तानि एवं स्वभाव कानि ऐसे पाठ भी है ऐसे स्वभाव वाले तान एवम स्वाभाविक स्वभाव तैसे तो ही है इंद्र दौड़ती तानि व्यत्रिणत व्यत्रिणत का तो हिंसदवान हनन कृतवान हनन क्या है ब्रह्मा जी ने टीका में यदि इंद्रियाणि अंतर्मुखानि स्युस् तदा तानि आत्मनिष्ठतया अमृतत्वं युरत इंद्रियाणि बहिर्मुखानि शिष्टानि त्यत् तत्तेषा हननमेव कृतम् इंद्रिय यदि अंतर्मुख हो होते तदा तानि आत्मनिष्ठते अमृतत्वम यु इंद्रिय आत्मा को ही विषय करते चिंतन करते तो अमृतत्व को प्राप्त करते अतः इंद्रियाणि बहिर्मुखानि शिष्टानि तो इंद्रियों का जो बहिर्मुख कर दिया परमात्मा ने यद तत्तेषाम हननैव कृतम उनका हनन ही किया उनके प्रति ही हिंसा है तो हनन कृतवान कोसो स्वयंभु परमेश्वर स्वयं ही परमेश्वर स्वयमेव स्वतंत्र भवति सर्वदा न परतंत्र स्वयमेव भवति स्वयंभू स्वयमेव स्वतंत्र होता है परतंत्र नहीं होता है परमात्मा जीव अज्ञान के कारण परतंत्र है परमात्मा ईश्वर परतंत्र नहीं है माया को वश में रह करके जिस प्रकार परमात्मा परतंत्र नहीं स्वतंत्र है इस प्रकार जो अज्ञान को जीत ले ज्ञान प्राप्त कर ले वही स्वतंत्र होता है पारतंत्र जो नहीं चाहते हैं उसके लिए अपने मन के पीछे दौड़ने से कोई पर स्वतंत्र नहीं होता है मन के पीछे दौड़ दौड़ करके अनादिकाल से ही चल रहा है किंतु परतंत्र के पारतंत्र की निवृत्ति के लिए जैसे परमात्मा नित्य ज्ञानवान है इसी प्रकार स्वयं अपने स्वरूप साक्षात्कार कर ले तो परतंत्र नहीं होगा वस्तुतः आत्मा एक अद्वितीय हो परतंत्र है नहीं उसको नहीं जान करके देहादि में हम बुद्धि करके अज्ञान संसारी दुखी होता है और चाहता है मैं स्वतंत्र हो जाऊं मनमानी करता है मन के पीछे दौड़ता है तो धीरे-धीरे संसार और बढ़ता ही जाता है संसार की निवृत्ति के बिना स्वतंत्र नहीं परमात्मा सर्वदा स्वतंत्र है न परतंत्र इसे उसको स्वयंभू कहा कोसो परमेश्वर स्वयं हो गया तस्मात परांग पश्यति परांग पराग रूपान बाह्य वस्तु को अनात्मभूतान आत्मा से विलक्षण सो अनात्म है शब्द आदीन शब्द रूप रस आदि अनात्म उसको देखता है पश्यति पश्यति क्या होता है शब्द को तो रूप देखेगा चक्षु से शब्द को देखेगा किससे श्रवण इंद्रिय से शब्द दिखेगा देखने का तो पश्यति का तो उपलब्धे पश्यति का तो उपलब्धते उपलब्धि करता है गंध को घ्राण इंद्रिय से ग्रहण करता है उपलब्धि उपलब्धता उपलब्ध है दृष्टा जीव नान्तरात्मन न अंतरात्मान इत्यर्थ अंतरात्मा को नहीं देखता है उधर नहीं जाता है गति उधर नहीं इंद्रिय एवं स्वभावेपि सति लोकस्य कश्चि अद्या प्रतिश्रोत प्रवर्तनमेव धीरो धीमान विवेकी चासा आत्मे आत्मा चेति आत्मा एवं स्वभावे पिसति ये तो इंद्रियों का स्वभाव है ही लोक से लोक का विषय स्वभाव इंद्रियों के कारण बाहर दौड़ते कश्चित कोई कोई नाम सहस्य जो कश्चित यतति सिद्ध है कोई नद्या प्रतिस्रोत प्रवर्तनमिव नदी पानी बह जाता है उसमें सूखी लकड़ी डालेंगे तो बह जाएगी बह जाती है बह जाना कोई बहने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है कोई तो लाश भी बह जाता है सूखी लकड़ी बह जाती है लाश बहता जाता है ऊपर से कौवा आदि खाते हैं नीचे से मछली भी खींचते हैं किंतु बहता जाता है बहने के लिए प्रयास करना नहीं पड़ता है इसी प्रकार संसार का जो प्रवाह है जिस प्रवाह में आरूढ़ है जीव उसमें बह जाना कोई बड़ी बात नहीं हो तो बह जाता है लाश ही बह जाती है सूखी लकड़ी बह जाती है ऐसे बह जाना नहीं किंतु यही विशेष प्रतिश्रोत प्रवर्तनमेव प्रतिश्रोत प्रतिकूलम श्रोत जिस पर बह प्रवाह है उसके विपरीत प्रवर्तन विपरीत प्रवर्तन होना कठिन है कोई जलचर तो बड़े आराम से चल जाते हैं जल में मछली है नीचे से ऊपर जा सकती है बड़े आराम से चल जाते हैं नीचे पानी में चल जाए ऊपर भी चलाना अगर चल जाते कभी-कभी ऊपर ऊपर से कर चल जाते हैं जैसे जमीन में दौड़ते हैं बंदर जैसे पेड़ में चलांग लगा के दौड़ते हैं इसी प्रकार मछली कहीं देखेगा पानी के ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा करके चल जाते हैं बड़े आराम से मनुष्य के पास ये सामर्थ्य नहीं बह जाता है बहकर मर जाता है तो प्रतिशत प्रवर्तन कोई कर सकता है उसके प्रतिशत के समान इव प्रवर्तनम इव उसके समान ही कोई धीर होता है वही धीर है बह जाना धीरे बड़े-बड़े पत्थर है हिलते नहीं जैसे कोई सही ही पानी कितने दिन चलते चलते चलते पत्थर को बिल्कुल चिकना बना दिया मुलायम हो गया लोहा जैसे हो गया किंतु जैसे कैसे पत्थर है हटा नहीं सकते इसी प्रकार होना चाहिए साधक को धीर संसार प्रवाह में कुछ भी हो जाए अपने लक्ष्य को नहीं भूले लक्ष्य की ओर चलने के लिए प्रयास करे वही धीर होता धीमान बुद्धिमान विवेकी वही बुद्धिमान विवेकी है अब बह जाना कोई विवेक बुद्धिमान नहीं है संसार में माया के पीछे बह करके बस उसमें के पीछे धन सम्पत्ति इकट्ठी कर लिया मठ बड़े मकान बना दिया बड़ा नाम रूप कर दिया ये सब तो बुद्धिमान विवेक नहीं है कोई धीर बुद्धिमान विवेकी होता है प्रत्येक आत्मानम ऐचतम प्रत्येक चासो आत्मा चैति प्रत्येक आत्मा प्रत्येक चासो आत्मा च प्रत्येक आत्मा प्रत्येक आत्मानम प्रत्येक आत्मा है आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ थे प्रत्येगात्मा परमात्मा को जब ईश्वर को कहते पर जोड़कर परमात्मा परमस्य च प्रतिचेव आत्म शब्द रूढ़ो लोके न अन्यस्मिन् आत्म शब्द प्रत्येक स्वरूप में ही प्रसिद्ध है अन्य में नहीं तो उसको ही कश्चित धीर प्रत्येगात्मानम ऐचतम प्रत्येक आत्मा का प्रत्येक अपने स्वरूप आत्मा को साक्षात्कार करता है कोई धीर यहाँ प्रत्येगात्मान श्रुति में जो दिया प्रत्येक आत्मा शब्द है वही आत्मा है प्रत्येक ब्रह्म उससे भिन्न होगा तो ब्रह्म को देखने के लिए कहना चाहिए प्रत्येक आत्मा न इच्छति क्यों कहा तो ब्रह्म अभिन्न रूप से दिखता है ब्रह्म अद्वैत वास्तविक तत्व है इसलिए प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार एक है नहीं तो परमात्मा को कहना चाहिए प्रत्येक आत्मा न इच्छति क्यों धीर अपने आत्मा को देखेगा परमात्मा भिन्न का समझ करेगा नहीं प्रत्यय अभिन्न ब्रह्म ब्रह्म अभिन्न प्रत्यय आत्मा को देखता है तो ब्रह्म से अभिनय आत्मा आत्म शब्द प्रत्येक से आत्मा में रूढ़ प्रसिद्ध है आत्मा से भिन्न तो अनात्मा हो जाएगा ब्रह्म आत्मा से भिन्न तो अनात्मा ऐसा नहीं ब्रह्म से अभिन्न प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म उसको ही कोई धीर साक्षात्कार करता है आत्मा तो हो गया प्रतीचि आत्म शब्द रूढ़ प्रसिद्ध आत्मा कहेंगे तो प्रत्येक आत्मा लेना होता है ईश्वर लेने के लिए परमात्मा कहते हैं और आत्मा शब्द का यौगिक अर्थ भी है एक प्रसिद्ध है और एक यौगिक अर्थ है कहीं कहीं शब्द का यौगिक अर्थ अलग है प्रसिद्ध अलग है में गम में डौस बनता है उनादि गम धातु से डौस करे गौ बन जाएगा डौ गौ का अर्थ गच्छति गौ बनेगा और लेट गई तो गो नहीं होगा और गच्छति तो कुत्ता भी दौड़ता है योगी का अर्थ लें तो गच्छा चलने वाला पंकज कमल को कहते हैं पंकाज आतम पंकजम पंकज से तो जैसे कमल होता है ऐसे अन्य भी होते हैं कौमुदी कहते कुमुद कुमुद एक एक पुष्प कमल जैसे क्या कहते उसको हैं हाँ? एक पद्म जैसे कमल जैसे से फूल पुष्प होता है एक कमल तो दिन में खिलेगा वो रात को खिलता है चंद्र किरण खिलता है कुमुद छोटे-छोटे लघु सिद्धांत कौमुदी में कुमुद आया कौमुदते ति कुमुद चंद्र किरण से खिलने वाले कुमुदाना यम यमित कौमुदी चंद्र किरण को कहते कौमुदी एक छोटे और पंख से और कीड़े और होते हैं किंतु प्रसिद्ध है कम कम रूढ़ है कमल के लिए ऐसे हस्त अस्य अस्ति हस्ती हाथी जिसका वो हस्ती है अभी कितने हाथी है यहाँ अंदर <laughs> कितने हाथी मारे हुए गिनती करो ये सब हस्ती है ना नहीं हस्त वाला है ना नहीं हस्त ये तो हस्ती है <laughs> ये हस्ती का रूढ़ अर्थ है हस्त वाला को हस्ती कहेंगे तो सब आदमी भी हस्ती हो जाएंगे <laughs> ये रूढ़ अर्थ आत्मसत प्रत्येगात्मा में और यौगिक अर्थ भी है खाली रूढ़ नहीं जैसे पाचक पाक करता है पचता से नूल प्रत्यय हुआ दुपचस पाके पाक और करता है नूल प्रत्यय इसी प्रकार आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति है व्युत्पत्ति पक्षे भी तत्रैव आत्मा शब्द वर्तते प्रत्येक आत्मा में आत्मा शब्द है टीका में आपले आप्ताविति आपले व्याप्ताविति धात्वर्थ अनुसारन व्यापक आत्मशब्दार्थ आपले आपतो धातु हि व्याप्ति अर्थ में व्यापक आत्मसत का थे व्यापक यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततो भावस्तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते लिंग पुराण में है यच्च आपनोति यस्मात् आपनोति व्याप्त है इसलिए आत्मा आपले आपतो से आपनोति इति आत्मा जो सारा ब्रह्मांड में व्याप्त है वही आत्मा है आपनोतित आत्मा यदा आदत्ते यत का अर्थ यस्मात् का यस्मात् आदत्ते दा से ग्रहण दान होता है आंग लगाते तो ग्रहण करता है प्रलय काल में सब को संहार कर लेता अपने में ग्रहण कर लेता है सब का प्रलय होता आत्मा में यस्मात् आदत्ते सब का संहार कर लेता है इसलिए आत्मा आंग प्रको को दाधान से आधते आत्मा बनी गया यच्चाति विषयानि यह का अर्थ लोके विषयान अति विषय ग्रहण करता है इस अद धातु से भी आत्मा बन जाएगा विषयान अतीत आत्मा यच्चास संतत भाव अत सातत्य गमने निरंतर भाव है से संतत भाव जितने प्रपंच है निरंतर आत्मा सर्वत्र है मिट्टी से घट बनेगा तो सारे घट में मिट्टी है कार्य में कारण निरंतर रहता है व्यापक रहता है ये सारे अध्यस्त पदार्थ प्रपंच में आत्मा सद्रूप से रहता है निरंतर यच्चास्य संतत भाव निरंतर उसके इसकी सत्ता सर्वत्र है सारे अध्यस्त पृथ्वी जल आकाश आदि में सर्वत्र अधिष्ठान सद्रूप है इसलिए सबको अस्ति अस्ति कहते आकाशम अस्ति जलम अस्ति घटो अस्ति पटो अस्ति अस्ति अस्ति करके अधिष्ठान सदरूप का ही अनुगमनता संतत भाव निरंतर है तस्माद आत्मेति कीर्त्यति इसलिए उसको आत्मा कहते हैं तो आत्मा शब्द है वो विषय ग्रहण करने वाला आत्मा है यच्चाति विषयानीय विषय ग्रहण करता है विषय ग्रहण करने वाला प्रत्येक आत्मा है वही व्यापक है जो विषय ग्रहण करने वाले लिंग पुराण का श्लोक है ये कोई आचार्य भगवत पद पाद का नहीं पुराने में आया व्यास जी के जो विषय ग्रहण करने वाला है वही व्यापक यह चापनोति वही व्यापक है संतत भाव उसका सर्वव्यापक है भगवान कहते अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित परमात्मा ही सारे भूत में आत्मन से है तो आत्मसद व्युत्पत्ति शरण स्मरणाद आत्मसद की व्युत्पत्ति कही गई लिंग पुराण में टीका में पहले आप व्याप्तो धातु से व्यापक हो गया चापनोति यचापनोति आगे यदा आदत्ते यस्मात् यत कात यस्मात् आदत्ते का संहरति स्वात्मनेव सर्वमिति जगद उपादान लभ्यते अपने स्वरूप में सब को उपसार कर लेता है कार्य का संहार कारण में होता है कार्य नष्ट हो गया तो कारणों को में लीन हो गया सारे जगत का उपादान कारण है आत्मा विषयान आत्मा विषय ग्रहण करने वाले वित्पत्या स्वचैतन्य चैतन्य आभासेन उपलब्धितम आत्मशुद्धार्थ शुद्ध आत्मा विषय ग्रहण नहीं करता है चैतन्य का आभास चिदाभास से उपलब्धित हो चिदाभास विशिष्ट बुद्धि को दृष्टा उपलब्धा करता कहते हैं चैतन्य आभास ने उपलब्धित्वम आत्मशब्द का अर्थ चिदाभास युक्त होकर के हुई उसको जीव शब्द से कहते हैं जीव सत का वाच्यार्थ है उपलब्धता करता भुक्ता लक्ष्य शुद्ध आत्मा है येन कारणेन अस्य आत्मन संततो भाव आत्मा का यह यच्चास्य संततो भाव यच यस्मात् जिस कारण से संतत भाव संतत का थे निरंतर भाव निरंतर सत्ता सर्वत्र कल्पित वस्तु जहाँ भी जितने कल्पित पदार्थ सर्वत्र आत्मा है क्योंकि कल्पित से अधिष्ठान सत्ता मंत्र न सत्ता अभाव अधिष्ठान सत्ता के बिना कल्पित की सत्ता है ही नहीं कल्पित की सत्ता अलग है ही नहीं अधिष्ठान सत्ता ही कल्पित में दिखती है राज्य में भ्रांति काल में सर्प दिखता है सर्प है ही नहीं तो भी कहते सर्प अस्ति राज्य की सत्ता सर्प में दिखती है सर्वदा कल्पित की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अलग है ही नहीं यथा रज्ज्वाम अध्यते सर्पे रज में अध्यस्त आरोपित सर्प उसमें अलग सत्ता नहीं है रज्जुहा सातत्यम रज में कल्पित सर्प सर्प में किस समय रज्जु रहेगी भ्रांति काल या भ्रांति के पहले भ्रांति के बाद नहीं रहेगी भ्रांति कल्पित सर्प में रज्जु नहीं रहती रज्जु ही रहती है सर्प नहीं रहता है रज्जु कल्प में सर्प कल्पित है वो सर्प है क्या वो सर्प में क्या रहती रहती रज्जु ही रहती निरंतर रज्जु ही है यथा सर्पे रज्जुहा सातत्यम सर्प में रज्जु हमें चाहिए भ्रांति के पहले भी रज्जु थी भ्रांति काल में भी रज्जु ही है सर्प का कुछ भी नहीं रहता है भ्रांति निवृत्त होने के बाद रज्जु रहेगी सोच कर बोलो कि मन थोड़ा सा ढीला है ना तुरंत उत्तर नहीं आएगा मन को थोड़ा हल्का कर देते हैं आराम से बैठ जाओ भ्रांति कल्पित सर्प वास्तव किस समय रज्जु में रहता है भ्रांति काल में तो रहेगा कभी नहीं रहता है और रज्जु कब रहती है तीनों काल में रज्जु है इसमें रज्जु की शान रज्जु सातत्य होगा जिस सर्प में इसी प्रकार तथा कल्पितम सर्वम येन स्वस्वरूपवत आत्मा कल्पित की सत्ता है ही नहीं आत्मा की सत्ता से अन्य की सत्ता है आत्मा की सत्ता से उनके अधिष्ठान की सत्ता से अध्यस्त की सत्ता अध्यस्त वस्तु को सत्ता स्फूर्ति देने वाला अधिष्ठान है अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में अधिष्ठान का स्फुरन भी अध्यस्त में अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति अध्यस्त में सर्वत्र दिखती है आत्म तत्व है उसकी सत्ता है उसका स्फुरन स्पुर्ति रज्जु नहीं दिखेगा रज्जु को ढाक दो सर्प दिखेगा रज्जु नहीं दिखेगा तो दिखेगी तो सर्प नहीं दिखेगा रज्जु नहीं रहेगी तो सर्प रहेगा रज्जु में सर्प आपको दिखता है रज्जु को कोई लेके ले गया अभी सर्प दिखेगा रज्जु हां है किंतु ढाक दिया तो तो रज्जु की सत्ता है जब तक तो, तो सर्प है रज्जु ले गया तो नहीं है और रज्जु रहने पर भी ढाक दिया रज्जु का स्फुरण नहीं होने पर सर्प नहीं दिखता है तो रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है रज्जु का स्फुरण होने पर सर्प का स्फुरण होगा रज्जु यदि आच्छादित तो, कपड़ा से ढक दिया व्यवधान कुछ हो गया तो सर्प नहीं दिखता है इसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म है उसकी सत्ता अध्यस्त में आत्मा की सत्ता सारे अध्यस्त पदार्थ में अध्यस्त पदार्थ में कल्पितम सर्वम सारे कल्पित वस्तु जिससे सत्ता वाले स्वस्वरूपवत उनकी स्वरूप कल्पित की स्वरूप है ही नहीं कल्पित का स्वरूप वाला होते अधिष्ठान के स्वरूप से स्वरूप वाले होते स आत्मा वही आत्मा है जिसके स्वरूप से ही अध्यस्त वस्तु का स्वरूप सिद्ध होता है अधिष्ठान आत्मा से ही सबका आत्मा वाला होते हैं स्वरूप वाला होते हैं इति आत्मसद वित्पति स्मरणात् तम प्रत्यगात्मानं स्वम स्वभावम ऐच्छद अपश्यत पश्यति इत्यर्थ अपश्यत का ऐच्छद का तो अपश्यत किंतु यहाँ पश्यति अर्थ करना चंद्रसी काला नियमात वेद में काल नियम नहीं है ऐसे प्रयोग होता है प्रत्यगात्मा कोई धीर ही साक्षात्कार करता है कथम पश्यति कैसे साक्षात्कार करता है वीर आवृत चक्षु आवृतम व्यावृतम चक्षु यस्य स आवृत चक्षु आवृत का अर्थ ढाक देना खाली ढाक देने से नहीं व्यावृतम इंद्र विमुख हो गया मुझसे हट गया इंद्र को हटाने उसे विषय से तभी थोड़ी देर आंख बंद कर बैठ गया थोड़ी देर मुख बंद कर दिया इतने से नहीं होता है हाँ थोड़े समय ध्यान अभ्यास करने के लिए ध्यान में थोड़ा का एकांत में बैठ करके ऐसे सुनना देखना सब बंद कर रहे तो थोड़ा अच्छा लगता है उसको थोड़ा अनुभव करने के लिए पहले पहले आँख में कुछ बांध कर रखे कान में कुछ बंद कर रखे मौन व्रत लेकर के दो दिन पाँच दिन सात दिन पंद्रह दिन से रहे एकांत में रहे भोजन भी सात्विक लघु पाक सरल खिचड़ी आदि हल्का खा कर रहे तो रस भी ग्रहण नहीं ऐसा करने से ये सब इंद्रियों के द्वारा ही विषय ग्रहण होकर के मन बाहर बाहर दौड़ता है जब विषय ग्रहण नहीं कर शांत रहते तो एकाग्र होकर परमात्मा चिंतन करें उसे के सात्विक आनंद प्राप्त होता है विषय ग्रहण करके जितने सुख है उसकी अपेक्षा भी विलक्षण सुख प्राप्त होता है जो सुख विषय ग्रहण से भी नहीं मिलता है वो शांति के लिए पहले पहले अभ्यास करने से अच्छा होता है आंख बंद कर रहा बिल्कुल कान में कुछ बंद लगा दिया बाहर शब्द नहीं सुनना और भूलना नहीं उसके बाद विषय भी इस प्रकार स्वल्प जितने आहार किया ऐसे रहने से मन एकाग्र होता है किंतु इतने मात्र से सब नहीं होता है इसी प्रकार अभ्यास करें अन्य समय में हमेशा ही काली में आंख बंद कर रखना कान में बंद कर रखना और नहीं खुला रहने पर भी उसको सुनना ही सुनना ये अभ्यास करना होता है कभी-कभी सोता पाठ चलता है मन कहीं भागता है तो सुना नहीं पड़ता है होता है नहीं जिस प्रकार मन चाहते पाठ तो सुने किंतु मन भाग जाता है आंख भी खोला है कान भी खोला है कान बंद करना नहीं पड़ता किंतु मन कहीं भाग गया तो सुनाई नहीं पड़ता है इसी प्रकार समझे अन्य समय में कोई कुछ कहता उसको के नहीं किंतु ये स्वभाव है <laughs> उधर मन भागता है उसको सुनने के लिए क्या कह रहा है बड़े प्रयास कर सुनते क्या बोल रहा है हमारे बारे में कुछ तो बोलता नहीं <laughs> सुने बोल कर क्या क्या कर देगा किंतु उसको सुनने में बड़ा वेदांत श्रवण करते समय बहुत कितने लोग सब बहुत को नहीं कितने लोग निद्रा निद्रा आ जाती है अन्य को सब को नहीं है कुछ कुछ लोग को निद्रा आ जाती है किंतु अन्य समय में बात करो रात को 10 11 12 बजे तक बात करो कोई चिंता नहीं बिल्कुल नींद नहीं आएगी उसके बाद भी बात करो तो भी कोई आपत्ति नहीं हम हाँ, यदि दस ग्यारह बारह बजे तक बात करेंगे तो उठने उठते समय आठ नौ बज जाएगा तो उसके लिए पहले से तैयार है कहेंगे स्वास्थ्य तो खराब है <laughs> ये उत्तर तो पहले से तैयार है किंतु सरल मार्ग में चलने पर ऐसे अपने इंद्रियों को रोक करके बाहर प्रवृत्त नहीं करके यही संयम करने का यही अभिप्राय है जो इंद्रिय की प्रवृत्ति इधर उधर होती है व्यर्थ है उसको रोक करके लगाए ते आवृत चक्षुष होता है तो उसको रोकना है कोई रख सकता है तो इसलिए इंद्रियों के आवृत का था तो ढकने का था नहीं व्यावृत आवृत तो ढक देना व्यावृत तो हटा देना खाली ढकना नहीं इंद्रियों के हटाना ऐसे विचार कर हटाने से कोई नहीं कोई कुछ कहता है तो कोई चिंता नहीं कोई जाता है देखना जरूरत नहीं मौन व्रत लेने की आवश्यकता नहीं व्यर्थ वार्तालाप नहीं करो तो ऐसे मौन हो जाता है ऐसे बहुत साधक का अनुभव है सबके बीच में रहते हुए उनको बात करने के समय नहीं कभी तो मंदिर में कभी कमरा में बैठ के ध्यान कभी पुस्तक पढ़ते नहीं तो पढ़ाते हैं पढ़ना पढ़ाना और चिंतन करना ये करते करते समय अभाव रहता है बात करने का समय क्या मिलेगा जो नहीं करते हैं ना पढ़ना नहीं पढ़ाना नहीं ध्यान भी नहीं करना उनको बात किए बिना समय कैसे कटेगा इसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं जा करके कम से कम नहीं तो रात को कमरा में बैठ कर दस ग्यारह बार तो बात करना पड़ेगा और जो ध्यान साधना अध्ययन करेगा उसको समय मिले बात करने के लिए समय नहीं मिलता है हमारा पहला अनुभव है सात दिन सात दिन पंद्रह दिन तक बीच में कभी किसके साथ बात ही नहीं पाठ में जो चला पाठ चला बाकी सब अपने सात दिन छुट्टी में कभी कोई आया थोड़े नहीं तो बात करने का समय नहीं अभी आप देखो हमें आपस में कितने लोग के बातचीत कब होती है हाँ जो लोग साधना भजन अध्ययन नहीं करते उनको तो बात करना ही पड़ेगा अपने कमरे दूसरे को बुला दो नहीं तो दूसरे स्वयं जाओ किस कमरे में जो इसे करते हैं ना रात को बात करते मिल करके और बहिर्मुखता है ये नहीं करना चाहिए व्यर्थ बात रात को रात का आरती महीने के बाद किसी के कमरा में ना जाना ना किसको कमरा में बुलाना रखना अपने साधन भजन शांति से बैठकर भजन करे भजन के लिए समय है शाम के बाद ऐसे धीरे-धीरे अभ्यास करना पड़ता है आवृत चक्षु का अर्थ क्या व्यावृत चक्षु इंद्रियों को हटा कर विषय से ऐसे अभ्यास होना होता है और यदि उसको हट नहीं हटाकर उसके पीछे भागते रहे जो जितने पुराना भी हो जाए जितने समझदार भी हो जाए जितने पढ़ भी ले क्या हो जाए लाभ हो जाए साक्षात्कार हो जाएगा ये यदि नहीं रोके जो नहीं करना चाहिए उसको करते रहे तो वो लाभ नहीं होगा लाभ होने के लिए इस मार्ग में चलने के लिए इंद्रियों को जीतने के आया तो पूरा एक साथ हठात नहीं होता है धीरे-धीरे उसको इंद्रियों को हटाना विशेष है स्वभाव है सुन श्लोक बोलते समय चुप हो जाते हैं बात करते समय जोर बोलने की इच्छा होती है ये स्वभाव से स्वाभाविक है वो पशु पक्षी से चिल्लाते हैं जोर से बिना प्रयोजन बंदर के चिल्लाते कितने का समय में इसी प्रकार जो बोलना होता है ना जोर से बोलना है किंतु श्लोक मंत्र आदि पाठ करते समय गीता महीना पाठ करते समय उससे शब्द नहीं निकलता ये स्वभाव है किंतु स्वभाव को बदलना चाहिए स्वयं चाहे तो बदल सकते हैं ये धीरे-धीरे से करने से ही सन्मार्ग में प्रवृत्ति होती है इसलिए जो साक्षात्कार कथम पश्यति आवृत चक्षु व्यावृत चक्षु श्रुति ही कहती है कोई साक्षात्कार करेगा तभी विषयों को हटाए व्यावृत चक्षु चक्षु केवल नहीं श्रोत्रादिकम जातम श्रोत्रादिकम इंद्रिय वर्ग सारे इंद्रिय को अशेष विषयाद व्यावृतम सारे विषय से हट गए सारे इंद्रियों को विषय से हटा दे तभी सस्य स आवृत चक्यु वही आत्मा का दर्शन साक्षात्कार कर सकता है विषय से इंद्रियों को हटा करके जितने स्वल्प अवर्जन इतने बाकी सब ग्रहण नहीं करके व्यर्थ शब्द मौन व्रत से मतलब नहीं अनर्थक शब्द व्यर्थ शब्द प्रयोग नहीं करे बिना नहीं देखने चलता है तो नहीं देखे नहीं बोलने चलता है तो नहीं बोले नहीं सुनने चलता नहीं सुने कोई कुछ नहीं सुना अपने लक्ष्य चिंतन करे जब अपने स्वरूप चिंतन में रहते हैं यदि उसे मन लग जाता है दूसरी बात सुनने की दूसरे को देखने की इच्छा ही नहीं होती जो पढ़ाई करता है उसको घूम घूर कोई पढ़ाई करता है कुछ आवृत्ति करता है श्लोक याद से कंठस्थ का उसकी आवृत्ति करता है और चलता फिरता रहता है किंतु कंठस्थ चलता विचार इस प्रकार कोई भगवान का नाम जप करता है चलता फिरता है तो दूसरे को देखने की इच्छा नहीं होगी जब मन में कुछ नहीं तो बाहर से रस निकालने के देखता है बाहर ढूंढता रहता है क्या देखना क्या कुछ ऐसे बाहर देखने के जो आदत है वो सब जो है उसको छोड़ करके अंदर अंतर्मुख करना यही चाहिए साधन है सारे इंद्रियों को हटा दिया आवृत चक्षु स एवं संस्कृत प्रत्यात्मन पश्यति वही संस्कार होता है शुद्ध होता है संस्कृत और बाकी बाह्य प्रभु तो करे और थोड़े एक घंटा दो घंटा बैठकर जप करें अनुष्ठान करेंगे परमात्मा प्राप्ति करें वो दो घंटा तो अनुष्ठान कर दिया इतने से सब शुद्ध हो जाएगा बाकी सब हलागुला करते रहे व्यर्थ करे ऐसा नहीं ये जितने जप आदि करने में लाभ होता है इससे अधिक लाभ होता है विषय से हटा करके सारा समय को उसमें उपयोग करें एक दो घंटा जप कर दिया बाकी बहिर्मुख प्रवृत्त हुआ उसकी अपेक्षा बाहिर्मुख प्रवृत्ति को रोकना बाहर प्रवृत्ति को वार्तालाप देखना घूमना बताना हटाना जितने जितने होता है वही संस्कृत होता है शुद्ध होता है अंतकरण तभी प्रत्ययात्मा साक्षात्कार होता है नहीं बाह्य विषय आलोचना पर तम प्रत्यात्मीक्षणं च एक से संभवति भगवान भाष्य का स्पष्ट कर देते हैं बाह्य विषय आलोचना पर तम प्रत्यात्मीक्षणं च एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता है प्रत्येगात्म दृष्टि करे तो बाह्य विषय आलोचना करने की इच्छा नहीं होगी बाह्य विषय आलोचना में लगा है तो प्रत्येगात्म क्षण नहीं होगा एक काल में दोनों नहीं होता है इसलिए प्रत्यात्म क्षण तभी होगा बाह्य विषय को देखना सुनना बोलना छोड़ दिया उसको छोड़कर अपने लगा तो प्रत्यात्म क्षण होगा साधन करने के लिए थोड़ी मन क्यों नहीं लगता है ये होता है बाह्य विषय से रस मिलता है उसका चिंतन करते तो उसकी वृत्ति होती ध्यान में बैठा तो ही बाहर दिशा आ जाएगा संस्कार तो बहुत ही अनादिकाल से फिर और बाह्य प्रवृत्त हो तो और बढ़ता है उसको कम करना है अपने स्वरूप में चिंतन स्वरूप में स्थिति स्वरूप चिंतन करते करते फिर धीरे धीरे धीरे धीरे बाह्य विषय हटता है तभी साक्षात्कार होता है किमर्थम पुनरित्थम महता प्रयासेन स्वभाव प्रवृत्ति निरुद्धम कृत्वा धीर प्रत्यात्मान पश्यति ये बड़े प्रयत्न करके इंद्रिय तो बाहर दौड़ती है उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता रोकने के लिए कितने प्रयास करना पड़ता है साधक समझता है जानता है इंद्रियों को रोकने के लिए मन को रोकने के लिए कितने प्रयास करना पड़ता है तो भी प्रयास कर बैठा है ध्यान करने के लिए मन कहाँ चला गया पता नहीं देर में पता चलता है क्या मैं सोच रहा हूँ पुस्तक लिया बैठे हैं कहने के मन कहाँ जाता है श्रवण करने के लिए बैठा है मन कहाँ भाग रहा है बड़ा प्रयास करके लगाना पड़ता है तो स्वभाव प्रवृत्ति निरुद्ध स्वभाव से इंद्र की प्रवृत्ति उसको रोक करके धीरज विवेकी क्यों पश्यति क्यों देखता है प्रत्यात्मा का दर्शन से क्या लाभ होगा इसे का अमृतत्वम इच्छन अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम नित्य स्वभावताम इच्छन आत्मन आत्मा नित्य है अमरण धर्म है उसको चाहता हुआ प्राप्त करना चाहता है साक्षात्कार करने से ही वो अमृत स्वभाव को प्राप्त करता है तभी स्वतंत्र हो जाता है मुक्त हो जाता है जो आत्मा का स्वभाव है नित्य स्वभाव है उसको प्राप्त करना चाहता हुआ बाह्य प्रवृत्ति को रोकता है व्यर्थ बाह्य प्रवृत्ति के कारण ही संसार में भटक रहा है अनादिकाल से उसकी निवृत्ति के लिए परमात्मा साक्षात्कार के लिए तो व्यावृत चक्षु चाहिए ओम सहना भवतु